कबावलियो कुदो अरे हम फूल जेवा फड़े नहीं अरे कोई कुड़ी में कुभार हम मुइनी माटिना मेरा करे ये आपके कस बोली है अरे लगा अमनू yeah, I mean. Hare re सारे कच्छ में पर्जिया होता है कच्छी में ही है कच्छ तो में ही होती है ये गुजरात फर्ज माने ये है जो गुजरात साइट है ना हाँ। जो इस तरीके से इराक की जाती है तो गुजरात साइट की कच्छ साइट की बोली एक तो उनको पर्ज कही जाती जिस मुल्क में राग जो उनको पैदाश करता था वो उस मुल्क का ही राग पर उनका नाम ही वही हो जाता अच्छा। तो मार है ना हाँ तो मार जैसलमेर की है जोधपुर की है अच्छा। जयपुर की भी है उदयपुर की भी है पर जैसलमेर की जो माड़ है वो अलग अलग रहती है वो किस्से में कुछ होती नहीं हाँ, अच्छा तो ये परज ये कौन सी गीत थी आपने गाया ये कृष्ण भगवान का भजन वो तो क्या कहा गोपी ने कि बानड़ा मारा अमानु श्री विंधाना नेवना वित जड़िया निशान अरे कानूड़ा बानड़ा वाया अमान तो भाई बाण नजरों का तो ऐसा हमने को बाण मार दिया है जो तो घायल कर दिया संभल ऐसे ससारिए जो ये आस्थान छोड़ के जो स्वर्ग में जाता है तो कह के समय ले संसार ये ना ताली हम नावन के लिए नावन धोन के लिए चले तो कानूड़े पकड़ा मारा थी तीर पकड़ लिया अरे बानड़ा वाया कानूड़ा श्री विधाना ने बना तो दड़िया निशान तो ये इनके बोल अच्छा, <laughs> अच्छा, अच्छा।, अच्छा गौरी जो आप लोग गाते हैं हाँ, हाँ राग गौरी होती गा गौरी है हाँ? गौरी है गौरी हाँ, गौरी गौरी हाँ। गौरी गौरी ना गौरी गौरी हाँ गौरी बेराड़ी तोड़ी से लागू हो जाती है तोड़ी जो मेवाड़ी होती है ना मेवाड़ी हाँ, तोड़ी हाँ। तोड़ी से वो लागू हो जाती है थोड़ा सा सुनाइए एक हारमोनियम पर सिर्फ सुनाइए चाहते तो गाने की जरूरत नहीं खाली समझ के लिए कि गौरी यहाँ की कैसी बजती है हाँ ये खास राजस्थानी आपके ढंग है वो समझ गया हूँ आप तो तोड़ी गौरी का घर एक है अच्छा हाँ तो ये अभी गौरी हो रही है अच्छा। उनके बाद हाँ मेवाड़ी का थोड़ा आपको वो टेस्ट बता दें तो फिर लागू है ना इनमें हाँ। टाइप तो आपको उस लेके ध्यान पड़ जाएगा अच्छा।

bölürene Go, Edoni. में धर्मश्री राधा की भावना है धर्मश्री राधा कोटे बूंदी का था राधा अगर किसी ने किशन मुरार करणी थी छोड़ी और पलगी बिसारो हार बुझ मदर बजायो तीसवीं सफेद थोड़ा एक अच्छा, थोड़ा सा de su v i d cala todas चार जैसे हाँ, गांव गांव में देखें हाँ। तो मंगड़ियार या मिरासी जैसे कहते हैं हाँ। जैसलमेर के डिस्ट्रिक्ट में हम्म। समझो कि सोलह में से चार हाँ, हाँ लिखने लिखे हाँ, इतने मिलेंगे बस मगर मैं सुना हूँ कि आप लोग का खास ये जैसा हम कहते हैं कि अलिफ बे पे थे हम्म। या तो अलिफ बे पे हाँ, अलिफ बे पे या ये है या तो हाँ क ख ग जैसा बोलते हैं ना हिंदी में वो आप मैं सुना कि आपके पास एक खास अलग तरीका है ये हाँ, बोलने का हाँ, हाँ, हाँ, हाँ है आपको याद है किसी को याद है आपको याद है ये क ख ग घ जो आप सीखते हैं ये निरासी में या मंगड़ियार में ये क्या अलग तरीका से सीखा जैसे हम कहते हैं ना कोड़े का किन्नी का बच्चम की आगम की छोटे को बड़े को कोड़े का किन्नी का कोले का किन्नी का बचम की आगम की छोटे को बड़े को एक मात के दो मातारी कई कई काना कण मात को मात बे कन्या को मस्तक में नी कंग आगल में नी कक्का कक्का कोले खा किन्नी खा बचम खी आगम खी छोटे खू बड़े खू एक मात खे दो माता रे खई काना कण मात खो मात वे कन्या खो मस्तक में रे खंग आगल में रे खंखा और फिर आएगा गा हाँ अकोले गा किन्नी गा वचम गी आगम गी छोटे गु बड़े गु एक मात गे दो माता रे गई काना कण मात गौ मात वे कन्या गौ मस्तक मेरी गंग आगल मेरे गंगा गग्गा गग्गा कोरेड़ा किन्नीड़ा बचमड़ी आगमड़ी छोटेड़ू बड्डेड़ू एक मादड़े दो माथाड़ी रही कनकड़ मादड़ो माथड़ी कनियाड़ो मचक मिनी रंग अगन डाड़ा कोड़े चा किन्नी चा बचमची आगमची छोटे छू बड्डे छू एक माचे दो माथाड़ी चाहिए माल ಕನಕರ ಮಾಲ್ಚೌ ಮಾತ್ಬೆ ಕಿನಿಯಚೌ ಮಸ್ತಕ ಮಿಂದಿ ಚನ್ ಅಗಳ ಮಿಂದಿ ಚಚ್ಚ ಕೋಳೆ ಛ ಕಿನಿ ಛ ವಸಂ ಛಿ ಆಗಮ್ ಛಿ ಛೋಟೆ ಛು ಬಡ್ಡೆ ಛು एक मात छे दो मात हरी छई काना कर माँ छो मात भी किनिया छो मस्तक मिली छन आगल मिली छन छा ससुर छह ग सत्य ओड़े जा किन्नी जा बचम जी आगम जी छोटे जू बड़े जू एक मात जे दो माता जय कनक मात जो मात किन्निया जो मस्तक में जन आगम में जन जा तसे जज अना कोले ना किन्नी ना नी बचमनी नी छोटे अणु बड़े अणु एक ने दो माता ने कनक माणो मात वे कनियाणो मस्तक में रन आगम रन ना तसे जज ना Hello, this is you know, mm, mm, coleta, kineta, bachuti, agumti, chotetu, vadetu, ikumate, domatete, kanakamato, matvekaniato, mateminitan, agumitata. Ta, coleta, kineta, bachuti, agumti, chotetu, vadetu, ikumate, domatete, કાના કર માઠવ માધવે કન્યાઠવ મથગમન ટન આગમન ઠઠ્ઠા કોળે ડા કિન્ની ડા વસમ ડી આગમ ડી છોટે ડુ વડે ડુ એકમાં ડે દો માથે ડે કાના કર માઠવ માધવે કન્યાઠવ મથગમન ટન આગમન ડડ્ડા ના ના ડડા કોળે ઢા કિન્ની ઢા વસમ ઢી આગમ ઢી છોટે ઢુ વડે ઢુ એકમાં ડે દો માથે ડે కానీ అక్కడ మా అంటావు మాది ఎక్కడి అంటావు మస్తుగా వెంటనే ఆగలు డడ్డా గోడ గోడ ಗೋಳೇಣ ಕಿನ್ನೀಣ ಮಸಿಮಿಣಿ ಆಗುಮಿಣಿ ಚುಟೇಣು ವಡ್ಡೇಣು ಇಕ್ಮಾಣಿ ಸೋಮತೇಣಿ ಕನಕನು ಮಾಡು ಮತ್ವಿ ಕನ್ಯಾಣು ಮತ್ಮಿ ಅಡಂಗ್ ಅಗುಮಿಣ ಸತದಣ ಕೋಳೆ ದ ಕಿನ್ನಿ ದ ವಸಮದಿ ಆಗುವುದೇ ಸೋಟೆ ಬಡ್ಡೆಯರು ಏಕು ಮಾತೆ ದೋ ಮಾತೆ ದೈ ಕನಕಲು ಮಾತು ಮಾತುವೆ ಕನ್ಯಾದು ಮಸ್ತ್ ಗುರಿದನ್ ಆಗಮಿಂದ दा अच्छा पूरा मत बोलिए टाइम की बात है दा के बाद आएगा धा दा ओले धा पूरा मत बोलिए क्योंकि टाइमिंग उसके बाद आएगा ता ओले हम्म, ता ता हाँ। वो तो हो गया ता ता था दा धा फिर आएगा ना ना अच्छा ये आशा का सुर था आशा और आशावरी एक ही है आशावरी आशा अच्छा आशावरी आप आशावरी फरमाते हो अच्छा हम हमारी भाषा में आशा, आशा कहते हैं अच्छा आशा और आप लोग यहाँ जौनपुरी भी गाते बजाते हैं जौनपुरी जौनपुरी को हम कहते हैं बोली में दूसरा आप जौनपुरी का कुछ सुर निकाल दो तो मत मतलब हमारी भाषा कुछ और ना हो हाँ शायद होगा नहीं भाई भाषा की बात आप मैं इस ये पूछ रहा था कि क्योंकि आपके जो जो समझ में आती है आपकी बोली वो तो मेरे को ध्यान पड़ जाती है हाँ। हम जंगली लोग हैं अरे क्या ऐसी बात करते आपके पास तो सच्चाई है हम तो हम तो भूल गए सब सच्चाई अच्छा। हम इस रास्ते पे चले हैं आप तो उधर ही जिधर से आए थे वो उधर है आप बस वहीं बैठे हैं हाँ उधर ही बैठे हैं ये तो बात है कि हम तो अलग अलग रास्ते में चले गए पीछे को देख ही नहीं रहे इसीलिए यही तो बात है कि इसलिए तो आए हम हम्म? अरे सब जाने वर्ड हर जगह बोली बोली बोली भाषा सीखनी पड़ेगी हाँ, तो। लहर में नहीं नहीं ये लहर की तो चीजें उड़े उड़े चीजें पूछे लहरों के मतलब ठीक है आपने राजपूतों के बारे में तेरे को कोई सूरबीरी ने बताया सूरबीरी की कोई कहानी मतलब कविता हो सूरबीरी कविता अच्छा। का शौक वो तो बात अपना देश रही है हाँ। वो भाषा में जो है की कार आप ब्राजो ब्राजो ब्राजो है ना तो आप जो पूछनी चाहते जी तो गुरु जी आप बताओ कौन सी तरफ की पूछ और संगीत की चीज और गाने बजाने की पूछे हाँ, तो नहीं मगर राजपूताना की जो चीजें हैं हाँ, उसका भी बहुत वो भी बहुत शौक है वो बता दोनों दोनों में अच्छा तो मैं आपको पढ़ के सुनाए कविता जी अच्छा हाँ इधर हाँ, करीब रखें तो हाँ पढ़े सकव साची कह सुन लो छत्री आऊँ खत्रपट घाटो दान आगे दिया है दातारा की गति सुरापण मत काटो अगे रजपूत था तगा लाज बारण सुधारण का था छत्री सूरा कुड़ीरा सुधारण बेरियों काटता पणु धर्म या परे हंता पूरा काथेरा दृढ़ता सातपन कहता रहन माँ कीर्ति दे तेरेला बिड़ते घंत टौन हिकला बाजता जुड़त्या भैरा हंता झेला उमारी कीरति अजाल गडग है पृथ्वी सम्मान जितन को पाले सूर्य शशीष जेत बात चरण तीसरा हुक बाम मारा डिघाल कंचन रो दान राजा कर्ण कियो नामा जाल गल बै नरणाम सकल चाऊ चरण जहड़ो क्षत्रिय क्रोड़ बंट तो गय किरणाम बलिदातार गोपन महाबल बांबर ना बेस कर हरि बलियो दगा कर कमल श्याम मांगी धरा क्षत्रिय नु बचन कर भेद छड़ियो हरिचंद्र आगे प्रभु आप मंगा हुआ राज दान कर हुजे राजी सा सुग्गा आगे के सड़क या विष विश्व बास दे करी बाजी सुत ना बुलारे आप ली लीधी सुरी तका सुत का नशीस तोड़ो बेपता है हरी वहाँ पच बहगी सत पर मान रान कोई छोड़ो परिषद विक्रम भोज चावा पृथ्वी कवे सरु मारी कीर्त करता खे मारो कासब हम लाखो खरा दुथी मन माँ गुब्बा दान देता बागरा सिंह हुआ पन महाबला खे बड़ भीर की कीरत उगी सुभाग मारी चहुँ दस पार समंदारा पारी पूगी दान परमार शीश काट दिख दे दियो मान दुनिया में हुज मीठा मानसा कड़े रज्जपट खाक धट दे तरी ठाम माल रो कमर जग माल थो महीपत सत्तर काजन को धड़क साती मुगला पतसाद ली सुमल मले तुर्क उर दान कर फौज ताती मोर धरा पर मुक्सर सुमल मले बारे एक कर फौज के मूल्य सुम जोरावर थती हलबा मले धरार्ज बैना सम्मान धरंग के सड़करो पोतरो कब्ज पहरा सुणु खिल्ला भूपर सम्मान आरियो मर्दाद छतरी तणी राखणो समुद्र में शैल खाग अरब चढ़ियो अरिपत शाह तो कंठाला जू पाड़े भमद खणाद पमदा भाड़े थर हरि दिलीप तशाहपन थर हरि नलज पत्र शाल गान नाले सानगर राण चंगमान वीर मछत्री अरे पत शाह सुनापी एको शुद्ध नीति तणी बात राखण सदा दियो धर्म कारण शीश देखो